और फेंक दो जो तुम्हारे दाएं हाथ में है जो कुछ उन्होंने बनाया उसे अभी वो निकल जाएगा यकीनन जो कुछ उन्होंने बनाया है जादूगर की चाल है और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता जहाँ से भी वो आए